दशमाध्याय अध्याय है शतक त्रय में ये दूसरा शतक है अर्थात ये सर्वपद का विचार ऐसा तो सातवें अध्याय से प्रारंभ हुआ है तो यहाँ जो गुरु होता है उत्तम गुरु होता है वो शिष्य का भाव को समझ जाता है तो इसलिए अर्जुन के मन में जिज्ञासा है जो संशय है उसको पूर्ण करने के लिए संशय की निवृत्ति करने के लिए भगवान द्वारा श्री भगवान कल हम लोगों ने विचार किया था भगवान किसको कहते हैं करके जो विष्णु पुराण में आया था उसको लेके विचार किया बाद में अंतिम में विचार चल है समीप में किंतु आनंद नहीं होता तीसरा बताया था इंद्रिया हमारा जो मन है किसी वस्तु में स्थिर नहीं जो भी हम देखते हैं जो भी हम सुनते हैं मन से ही माना है बृहदारण उपनिषद में एक प्रकरण आता है उस परमात्मा ने सात सप्तान ब्राह्मण सात अन्न कौन कौन है अन्न का हैं अद्यजे अन्न खाया जाता है सबसे पहले जो अन्न है सामान्य प्राणी मात्र के द्वारा खाया जाता है दूसरा अन्न है देवतों के लिए दो बना दिया हुद और प्रभुत एक हुद और दूसरा प्रभुत अथवा दर्श और पूर्णिमा दो याद होते दर्श पूर्णिमा साभ्याम स्वर्ग दर्श कहते हैं आमावस्या के दिन में किया जाने वाला साथ ये हमारा वश में हो ये हमारे अधीन में हो तभी हम प्राप्त कर सकते इसलिए इनको अन्न दान परमात्मा प्राप्ति का ये साधन है तो वहां मन है उसमें क्या प्रमाण है तो इतने बता दिया मन है इसने प्रमाण दिया मनसा पश्यति मनसा सुनोती मनसा विजाना कोई भी व्यक्ति आंख से नहीं देखता मन से देखता है आंख आपके खुले हैं मन कोई अन्यत्र चिंतन कर रहे हैं उस वस्तु को देखने पर भी आप नहीं देख रहे ऐसा होता है कभी आंख खुले आप चिंतन में खो गए सामने कौन खड़ा है पता क्यों उस आंख के साथ हमारा मन नहीं है इसलिए मन से देखते ठीक है आंख से हम देख रहे व्यक्ति व्यक्ति को परिचय कौन करवाए आंख नहीं मन परिचय कर रहे ये मेरा मित्र है ये मेरा पुत्र है ये मेरा परिवार का है मन परिचय कर रहे शब्द हम सुन रहे हैं स्वाध्याय कान से भले ही सुन रहे हैं किंतु इसका जो अर्थ है वो मन के द्वारा अनुसंधान हो रहा है अथवा आप बैठे हैं चुपचाप पीछे से आके कोई बच्चा हो अपना आके आंख बंद करते तुरंत अब तुरंत पहचानते अरे तुम क्यों मेरा आंख आपने देखा तो है तो आपने कैसा मालूम पड़ा है मन से इसलिए जो मन है मन के द्वारा ही हम देखते हैं मन के द्वारा ही सुनते हैं तो सागर पूर्व जिज्ञास को सबसे पहले मन को ठीक करना चाहिए देखिए परमात्मा प्राप्ति के लिए कोई भी साधन नहीं अंतिम सत्य न हो सकता है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कोई साधन नहीं ये सारे साधन क्यों बता दिया है क्या परमात्मा प्राप्त के लिए स्वतः सिद्ध है वो वो साध्य नहीं है साधन इसलिए है ये जो हमारे अंदर दोष पड़ा है उसको हटाने के लिए जैसे कोई कुआ होता है कहेंगे जल प्राप्ति के नहीं आपको निश्चय है ज्योतिष ने किसी ने बताया जल है करके उसके ऊपर मिट्टी पड़ी है उसको हटाने की जहाँ मिट्टी हटती गई दस जल मिल गया जल मिल गया जल था बाकी वैसे ही साधन सब इसके तो इसलिए यहाँ बता रहे हैं मनु अनावस्था हमारा मन अनात्मा पदार्थ की ओर मन नाम रूप में रमण कर रहे हैं इसलिए नाम रूप इससे प्रकाशित हो रहे हैं नाम रूप का अधिष्ठान है भारतीय उसको बोल रहे इसलिए होने पर भी उपलब्ध नहीं हो रहा है यहाँ तक हम लोगों ने कल विचार किया दूसरा कारण है सौक्ष्म अत्यंत सूक्ष्म होने का जैसा हमारे आंख के सामने कितने जीवाणु घूम रहे हैं छोटे छोटे वैज्ञानिक छोटे कितने जीव घूम रहे हैं पता नहीं क्या दिख रहे क्या नहीं दिख रहे सूक्ष्म होने से और परमात्मा तो अणुरणीया महतो मई प्रतीक होता है कठोपनिषद अणु से भी अणु है इसलिए सूक्ष्म होने के कारण है उपलब्ध नहीं हो रहा है और व्यवधान छठवा कारण है व्यवधान होने से जैसा मान लीजिए हम बैठे पीछे क्या है पता नहीं अथवा आप मंदिर में गए दर्शन कर मूर्ति के सामने खड़े हुए बीच में पर्दा पड़ा है क्या भगवान का दर्शन कर सकते मूर्ति नहीं कर सकते इसका मतलब है मंदिर में भगवान की मूर्ति नहीं है ये हम नहीं कर सकते क्योंकि बीच में पर्दा आ गया वैसे ही यहाँ ये मन अर्थात जीव और परमात्मा के बीच में अज्ञान रूप पर्दा है ये अज्ञान रूप पर्दा जब तक नहीं हटाएंगे होने पर भी अनुभव में नहीं आ रहे अनुभव की हो रहे गलत नहीं हो रहे इसलिए उन्हें व्यवहार और सातवां कारण है अभिभवाह अभिभो कहते हैं दब जाना जैसा अभी नक्षत्र है क्या नहीं आकाश में अभी नक्षत्र है क्या नहीं नक्षत्र तो है रात्रि में आ गए दिन में नक्षत्र भाग रहे ऐसी बात है नक्षत्र अभी भी किंतु क्यों नहीं देख रहे सूर्य के प्रकाश के द्वारा वो आविर्भाव है दब गया नक्षत्र है किंतु वो बदलती उसका दर्शन इसलिए नहीं हो रहे सूर्य प्रकाश ने कह के उसको अभिभाव किया वैसे ही यहाँ आत्मा परमात्मा है नाम रूप और सारा ये कार्य है इसने उसको अभिभाव किया देखिए मैं हूँ तभी सारा जगत है ये निश्चित मैं मतलब शरीर नहीं है दृष्टा मेरे बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं किंतु हम मान रहे उनके बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है तो ये सारा जो अविद्या और अविद्या का कार्य जगत है शरीर आदि इनके द्वारा वो आत्मा अभिभव हो गया है किंतु अनुभव में आठवां कारण है समान अभिव्यवहार समान विहार समान अभिहार का मतलब समान वस्तु में समान मिलने पर ऐसा कोई वस्तु घुल मिल जाता है जैसा मान लीजिए किसी को कहा जाए दान में सभी में एक लाख दूध डाल तो सभी ने दूध डाल दिया और किसी ने एक गिलास पानी डाल दिया तो उसके बाद वो पानी के हॉस्पिटल में गया आप दिखा सकते दादा बाबा नहीं दिखा सकते सभी ने दूध डाल दिया क्योंकि तो आपने एक गिलास तो नहीं दिखा सकते वैसे ही ये सारे अविद्या और अविद्या के कार्य के साथ उनका जो दृष्टा है प्रकाशक आत्मा खुल मिलता है क्या बता रहे हो सातवें अध्याय में सातवें अध्याय में बता दिया और नौवे अध्याय में भी बता दिया सातवें अध्याय में कभी कहा देता मैंने पहले अष्टदा प्रकृति का निरूपण किया भूमि राखो नगो भाई उसके बाद रसो हम अक्सु कौन या जलवे में रस विभु बता दिया और नाम प्रकाश सर्वस्व करके तत्व को भी बता दिया और दसवें में बताया अहम प्रतुर अहम यज्ञा करके नौवे में बता दिया तो सातवें में भी बता दिया और नवे अध्याय में भी मैंने बता दिया क्या बता दिया मेरी विभूति और तत्वा दोनों बता दिया किंतु वो जो विभूति और तत्व है उसको पुनः सुनो ये भूया होना बोलते फिर महाभाव सुनो हे महाभाव फिर जो बताया हुआ वस्तु है उसी को भी और स्पष्ट रूप से तुम सुनो अर्जुन बोलो και शून्य परम किम नाम परमत्व निरतिशयत्वे सति क्षय शून्य निरतिशय सातिशय का मतलब ये पता है परिचिन्न देश काल वस्तु इन तीनों से परिचिन्न है उसी का नाम है सातिशया और बोलो निर्गता अतिशय जिसमें शेषकृत परिचिन्नता भी निकल गई कालकृत वस्तुकृत उसी का नाम है निरतिशय सीमा से परे तो निरतिशय सति क्षय शून्यत्व क्षय का अर्थ कल बताया था दो प्रकार स्वरूपता गुणता निरक्षय हो और क्षय से शून्य हो उसी का नाम है परम का वो परम कौन होगा परम ब्रह्मा परमात्मा उस परम ब्रह्मा परमात्मा को बताने वाले जो वचन है उसी को ही परम वचन इसे मुखारा मे परम वचन सुगम मेरा उत्तम श्रेष्ठ और निरतिशय जो वस्तु को प्रकाशित करने वाला परब्रह्मा परमात्मा को प्रकाशित करने वाला जो तो वचन है अर्थात तो वाणी वचन का मतलब मेरी वाणी है सुनो मतलब सुनो ये कौन बोल रहे भगवान बता रहे भूये पुनः सुनो यद्यपि पहले मैंने सुना सातवें अध्याय में भी लड़के तुम पुनः अच्छा यदि भगवान ने पहले ही सुनाया दोबारा क्यों है क्या आवश्यकता है कभी कभी होता है एक को बोल दिया छोड़ दिया चलो जाने दोबारा क्या क्यों बता तभी बता रहे यत्ते अहम प्रियमाणाय बक्षा यत का अर्थ लेना परा श्लोक में है ना है अयुक्ते अलग यंत्र मतलब यहाँ परम ते बोलो तोभ्याम अर्थात ये जो परम वचन है बोलो तो तो तो तुझे क्यों ऐसा है प्रियमाना ने तब तक गीता उपदेश नहीं किया अर्जुन ने वो बुलाना देते रहे बोलते रहे भगवान ने बीच में दो शब्द बोले चुप हो गए दूसरे अध्याय में जाके शिष्य ते हम शाही माम प्रबंध था उसके बाद भगवान उपदेश करने में अग्रसर हो गए आगे इसलिए भगवान के प्रिय हैं इसमें हम बता रहे हैं हे अर्जुन मुझे पुनः ये वचन बता तो यहाँ इसलिए कहता हूँ किमर्थम अहम वक्षा इति अतः अच्छा ठीक है मैं पुनः बता रहा हूँ तो जिज्ञासु के तो मन में जिज्ञासा हो सकती है तो ऐसा इसलिए कर हूँ उसका कारण क्या है इसका प्रयोजन क्या है दोबारा बताने का क्या प्रयोजन है तो उसको बता रहे हैं इति कथा आहा दूसरे श्लोक बता रहे हैं नमे विदुर गणाः अर्षया सुर मतलब है देवता सुर का होते हैं देवता हम लोग देवता शब्द सुनने पर केवल इंद्र मानते हैं ये बात नहीं देवता है तेंजिस देवता मानते हैं हम बोलते हैं ना तेंजिस करोड़ देवता मानते हैं बोलते हैं कितने देवता हैं करोड़ तैतीस करोड़ देवता नहीं है संस्कृत में कोटि शब्द है प्रकार अर्थ में प्रयोग होता है कोटि शब्द है प्रकार भाव कोटि अभाव कोटि तो तैतीस कोटि का मतलब तैतीस प्रकार और उसी कोटि को हम संख्या में डाल दिया गाय में कितने लेवल है तैंतीस करोड़ विचार नहीं किया बोल दिया तैंतीस करोड़ तैंतीस करोड़ नहीं तैंतीस प्रकार कौन है वो तैंतीस वेद में बता दिया है ब्राह्मण में शुक्ल में अष्टादश वसु ग्यारह रुद्र द्वादश आदित्य कितने हो गए बारह ग्यारह बारह और ग्यारह तेईस और आठ तेईस और आठ इकतीस हो गए इंद्र बत्तीस प्रजापति जितनी है देवता माना तेईस आठ वसु एकादश रुद्र द्वादश आदित्य इंद्र और प्रजापति ये ही तेईस प्रकार के देवता तो इसी को हम तेईस करोड़ कहते हैं उन्हें कोई संकेत कर रहे हैं सूर्य का नाम गण कहते समुदाय देवतों के समुदाय यहाँ देवता के समुदाय का मतलब भगवान का चल ब्रह्मादया केवल इंद्र नहीं ब्रह्मा भी अंतिम में जो बताया ना प्रजापति तैतीस वह कौन है प्रजापति वो भी नहीं जानता क्योंकि प्रजापति भी शरीरधारी है वो भी क्या है शरीरधारी है ईश्वर का शरीर नहीं है ईश्वर का शरीर नहीं होता हिरण्य गर्भ तक शरीर माना है कहाँ तक हिरण्य गर्भ ईश्वर का शरीर क्यों नहीं तो पूछे आप क्यों नहीं शरीर का कारण है धर्म और आधार जो भी शरीर बनता है ना धर्म ईश्वर में धर्माधर्म नहीं तो धर्माधर्म का दृष्टा है प्रकाशक है इसलिए ईश्वर का शरीर यदि ईश्वर का शरीर है तो केवल माया मात्र है अलग शरीर है वो सभी के शरीर में रहता है अर्थात जो भी अभिमान करने वाला हिरण्य है उसमें रहता है वही उसका शरीर और नियमन करता है इसलिए उसको अंतर्यामी कहा गया है जैसा मान लीजिए पहले प्राचीन काल में एक कठपुतली खेल होता था अभी तो कम हो गया शायद अभी देखिए वहाँ तीन चीज मुख्य आता है एक कठपुतली नाच रहे हैं उसको हम देख रहे हैं तो कठपुतली के अंदर जो धागा है उसको नहीं देख रहे नचाने वाले को भी नहीं देख रहे केवल कहीं उतले इसी प्रकार ये जो जगत है ब्रह्मांड में हम कठपुत ना चल सकते धागा है हिरण्य सूत्रा और उसको नचाने वाला है अंतर्याम उसको नहीं देखा है इनमें रह करके वो नचा इसमें ईश्वर का कोई अलग शरीर तो जो भी शरीर धारी है चाहे तो जयनगर को भी क्यों ना हो प्रजा को भी मुझे किया तो हिरण्यगर्भ का जो शरीर मिला है विचार क्या है पुण्य है पाप है और मिश्रित कर्म है तीन कर्म एक पुण्य कर्म उसको बोलते हैं शुक्ल कृष्ण शुक्ल कृष्ण शुक्ल का मतलब पुण्य कृष्ण का मतलब पापा शुक्ल कृष्ण बोलते मिश्र पुण्य कर्म के फलस्वरूप देवत्व योग प्राप्त होती और वहां भी भेद किया है लघु वासुदेव मनन में किया है उस उस पुण्य में अत्यधिक पुण्य हो गया हिरण्य गर्भ का शरीर क्लास में सेकंड क्लास तीसरा फर्स्ट क्लास में थर्ड क्लास वैसे ही ब्रह्म का शरीर है फर्स्ट क्लास में फर्स्ट क्लास इंद्रादि शरीर है फर्स्ट क्लास में सेकंड क्लास और वरुण अग्नि आदि शरीर है फर्स्ट क्लास में थर्ड क्लास ये पुण्य का मतलब और वैसा ही पाप में भी भेद किया है साधारण अत्यधिक पाप ऐसा मान लीजिए गाय भी पापी होनी है कुत्ता भी पापी होनी है और सुअर भी पापी गाय जो पापी होने में से सामान्य पाप होता है कुत्ता है मध्यम है सुअर आदि अधिक पाप है वृक्ष में पीपल का पेड़ है अथवा बेल का पेड़ है और एक पेड़ से हम मकान बनाते एक पेड़ जलाते कांटे डालते ये अलग भेद हो तो गया पाप में वैसे ही मिश्रित में भी भेद कर दीजिए या पुण्यान और पाप पुण्य रहता है मनुष्य से भी प्राप्त करता है पाप अधिक होने से सूर्य बुनियादी प्राप्त होते हैं और मिश्रित पाप होने से मनुष्य इनमें भी मिश्रित में भी भेद करना तो उसमें जो मिश्रित में पुण्य अधिक होता है जिसका ब्राह्मीय शरीर प्राप्त होता है ब्राह्मीय मतलब ब्रह्म तत्व को जानने का योग्य शरीर और मिश्रित में थोड़ा पुण्य कम हो गया तभी को उपासना के फल के द्वारा ब्रह्म को प्राप्त करना और पुण्य कर्म अत्यधिक कम होगा निश्चित में तब ये चांडाल आदि इत्यादि से प्राप्त भेद की है इसलिए यहाँ सुरागणा शब्द से लेना केवल इंद्राज नहीं लेना ब्रह्मादया भाष्यकर को कहना पड़ा जितने भी देवता है शरीरधारी है हे अर्जुन मुझे नहीं पहचान सकते क्योंकि उस तत्व को यदि जानना है आपको शरीर से ऊपर उठना पड़ेगा शरीर के साथ तादात्म्य करके यदि आप जानना चाहते हो कभी संभव नहीं इसलिए बता रहे न मे विदु सुरागणा क्या नहीं जानते प्रभाव अर्थात प्रभाव का मतलब उत्पत्ति यानी मेरी उत्पत्ति भगवान की जो उत्पत्ति है देवता ब्रह्मादि भी नहीं था कहाँ से उत्पन्न हुआ उसका कारण कौन है किसने उत्पन्न किया कोई भी नहीं जानते क्योंकि वो अनादि और अनंत है सबका कारण है उसकी उत्पत्ति है ही नहीं वास्तव भगवान प्रकट हो सकता है जन्म नहीं हो सकता प्रकट होना अलग है और जन्म तो इसलिए बता रहे सुरगण प्रभव न विद्वान मैं प्रभाव सुरगण न हे अर्जुन मेरी जो उत्पत्ति है अथवा मेरी प्रभुत्व शक्ति है सारा जगत को मैं निर्माण करता हूँ उत्पन्न करता हूँ प्रभाव मतलब प्रभुत्व शक्ति उत्पन्न करने की सामर्थ्य कोई नहीं जानते ब्रह्मा जी भी नहीं जानते न महर्षय महर्षया अभी ना महर्षि भी मेरा प्रभाव मतलब विभूति को अथवा उत्पत्ति को नहीं देखिए ऋषि भी तीन प्रकार की माने ऋषया गाते ऋषया मंत्र दृष्टाना ऋषि का नाम है मंत्र दृष्टाना मंत्र करता नहीं मंत्र को बनाया नहीं मंत्र को देगा कैसे देगा साधना करते करते करते सवित्र मंडल सबका प्रतीक है सूर्य माना है हिरण्यगर का स्वरूप उसमें सारा रिकॉर्ड है सूर्य महाभारत हुआ है रामायण हुआ है रिकॉर्ड कहाँ है आदित्य में योगी लोग ध्यानस्थ होकर उसमें देखते हैं तो ध्यानस्थ होकर ऋषियों ने देखा मंत्रों को इसलिए वहां कहा गया ऋषया मंत्र दृष्टा तीन प्रकार की ऋषि मानते एक देवर्षि दूसरा ब्रह्मर्षि तीसरा राजर्षि देवता होते हुए ऋषि को प्राप्त करता है जैसे नारद जो क्या कहते हैं देवर्षि नारद देवता है ऋषि को प्राप्त वशिष्ठ जी है ब्रह्मर्षि ब्राह्मण होते हुए ऋषित्व को प्राप्त किया उसी का नाम है ब्रह्मर्षि राजा होते हुए क्षत्रिय होते हुए शिव को प्राप्त किया विश्वामित्र इसलिए राजस्व गायत्री मंत्र का दृष्टा बन जाता है तो इसलिए हम ऋषय बहुवचन है सारे ऋषि हैं सप्तर्षि हो देवर्षि हो राजर्षि हो ये ना भी हो क्यों अहम आने ही देवान सारे देवतों का आदि मतलब कारण सभी देवतों का मैं हूँ मैं हूँ मेरा अस्तित्व है तभी देवतों का अस्तित्व आम आदि देवानाम महर्षि नाम च सर्वशा और जितने भी लोग महर्षि हैं उनका भी सर्वशा सर्वशब्द मतलब सभी प्रकाश सारे देवताओं का भी मैं मूल हूँ सारे ऋषियों का भी मैं मूल हूँ अरे क्या है सारा जगत का मूल मैं हूँ उस मूल को ये देवता और ऋषि कैसे जानेंगे संभव नहीं है इसलिए अर्जुन मेरा मूल तत्व को कोई भी पहचान नहीं सकते उस मूल तत्व को मैं पुनः आपको बताना क्योंकि आप मुझे अत्यंत प्रियमान हैं और आपका मैं हित तो चाहता हूँ इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ आगे का अनुचार ओम शांति शांति शांति